बताएंगे इससे पहले एक ऐलान हमारे मदरसे के पड़ोसी इस बच्ची के लिए भी इनाम आकर है हमारे मदरसे के पड़ोसी मस्तान वाले साहब मदरसे के लिए ग्यारह सौ रुपये इमदाद किए हैं अल्लाह इनको कबूल फरमा और नूरजहाँ साहिबा हैं और उन्होंने भी मदरसे के लिए सौ रुपये से इमदाद की है अल्लाह कबूल फरमा और इस बच्ची के लिए भी इनाम आया है तो यहाँ तक ले जाए इस बच्ची के लिए दूसरा भी इनाम आया है आकर ले तो मैं ये बता रहा था कि किन कामों का करना बुरा है और किन कामों का करना अच्छा है और इस सिलसिले में ये हमें बताएंगे इन ध्यान के साथ सुने कौन दिए अच्छा मदरसे के लिए इमाम आया है दो सौ मदरसे की इमदाद के इन्होंने अल्लाह कबूल फरमाया असमा बिनते अकबरा

ज़्यादा मजदहू की कुछ नसीहत सुनाना चाहती हूँ मेरी माँ बहनें वो ये हैं महब्बत दियानत और किफ़ायत शायरी से दौलत आती है बेअदबी करने से बेनसीबी आती है मेरी माँ बहनें फजूल खर्ची से मुफलिसी आती है बड़ों की सहबत में बैठने से अकल आती है गईबत करने और सुनने से बीमारी आती है मेरी माँ बहने यतीम बेवा और वफ का माल नाहक खाने से बर्बादी आती है आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम तमाम के अल्लाह हम तमाम को इन बातों पर अमल की तोफ़ी अतो फरमाइए आमिर सुम आमीन बलाओ वरक माशा माशा इस बच्ची ने भी अच्छी बातें हमें बताई हैं अच्छा सलीमा सलीम भाई अच्छा मदरसे के लिए कुछ इनामत लाई है बच्ची वो नाम नहीं बोल सक रही रेशमा और रंगापुर वाले भी कुछ साथी भेजे हैं और कुछ साथियाँ इनाम सौ सौ रुपये हाँ रहमत इस तरह से कुछ नाम आए हैं देखो नामा सबके बोलना तो ज़रा मुश्किल हो जाएगा तो भाई मदरसे के लिए इमदाद कर रहे हैं अलहमदिल्ला ये अल्लाह के दीन की मदद करना अल्लाह की मदद करने के बराबर है अल्लाह आप लोगों की इमदाद को कबूल फरमाए मैं अब जो है मुकालमे के लिए फिरदोस और कुलसुम ये पंजुम के तालिबात हैं और इनको बुलाना